नमस्कार मित्रों ये जो मेरा वीडियो है वो मोदी साहब के एक जो कमेंट है कि पहले शौचालय फिर देवालय इसके ऊपर है मतलब मेरा ये जनरली स्टैंड है कि हमें नेताओं की निवेदन स्पीच बातें सुननी ही नहीं चाहिए वो कानून क्या छाप रहे हैं वो ही देखना चाहिए पर ये स्टेटमेंट आया और बहुत कंट्रोवर्शियल है और मेरे हिसाब से वल्गर भी है ऐसा स्टेटमेंट मैं तो वल्गर ही कहूंगा बोलना ही नहीं चाहिए इस तरह का स्टेटमेंट तो बहुत सारे जो मेरे वॉलेंटियर वगैरह था उन्होंने कहा कि ये मुद्दे पे कुछ स्टैंड हमें लेना चाहिए कि भाई ये स्टेटमेंट है तो क्या स्टैंड है हमारा तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया मैं वन लाइन में ओपिनियन दूंगा कि it is a very uncivilized statement ये रेशनलाइज करने की बात नहीं है कि ये जरूरी है ये जरूरी है ये जरूरी है मैं एक्सप्लेन करूंगा क्यों क्योंकि देवालय ये वो आदमी ने अपने पैसे से बनाया अब भाई तुम कौन कहने वाले हो तो कि मुझे अपने पैसे का क्या करना चाहिए मुझे अपने मैंने मैं पैसा कमाया मैंने टैक्स भर दिया जो मंदिर के भक्तजन है उन्होंने सरकार से तो पैसा लिया नहीं है सरकार से जमीन भी लिए तो मार्केट रेट पे खरीद के लिए उन्होंने अपने पैसे पे मंदिर बनाया उनकी मर्जी अब तुम कौन होते हो कहने वाले कि नहीं भाई तुम ये पैसा मंदिर में मत दो कोई एनजीओ वेनजीओ है गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि शौचालय लगा रही है उसको दो दरवाजे बंद कर तो ये एक पर्सनल चॉइस का मुद्दा है और पर्सनल चॉइस पे इस तरह का कमेंट करना अनसिविलाइज्ड है और टॉयलेट और मंदिर जैसी चीजों को एक लाइन में रखना भाई मतलब शौचालय जरूरी है पर आप ड्राइंग रूम में क्यों नहीं रखते मतलब क्यों थोड़ा कॉर्नर में रखते हो मतलब तो एक लाइन में रखना भी ठीक बात नहीं है अब इसके ऊपर पहले ये बात है कि शौचालय बहुत सारी जगह पे नहीं है तो क्यों नहीं है एक कारण है गरीबी तो गरीबी क्या मंदिर खड़े करने वालों ने किए सरकार ने कानून पास नहीं किए एमआरसीएम का कानून जो मैं कहता हूं कि मिनरल रॉयल्टी सीधी सिटीजन के खाते में जमा की है नरेंद्र मोदी की हिम्मत है ये एमआरसीएम कानून को सपोर्ट करने की कि सरकारी जमीन का किराया सीधा सिटीजन के खाते में जमा होना चाहिए बोलने की हिम्मत है देवालय और शौचालय को कंपेयर करने की हिम्मत है तो क्यों एमआरसीएम बोलने की हिम्मत नहीं है उसमें तो गरीबी है इसलिए उनकी वजह से नहीं और गरीबी इसलिए नहीं है क्योंकि मंदिर नहीं है गरीबी इसलिए है क्योंकि जो मिनरल रॉयल्टी का पैसा है सरकार की जमीन का किराया है वो गरीबों के खाते में वो नागरिकों के खाते में जमा नहीं हो रहा दूसरा घरों में पानी की लाइन नहीं है अब पानी की लाइन नहीं है तो आप कैसे टॉयलेट घर में रखोगे पानी की लाइन ही नहीं है जब पानी आपको दूर से भर के लाना पड़ता है तो अक्सर पसंद करो कि आप खुद बाहर जाओ पानी की लाइन क्यों नहीं है क्योंकि सरकार ने पैसे नहीं एलोकेट किए म्यूनसिपालिटी ने और दूसरा जो म्यूनसिपालिटी को पैसे मिले या म्यूनसिपल ये पंचायत को वो पंचायत का सरपंच खा गया तो उसका उपाय है right to recall municipal commissioner right to recall sarpanch और दूसरा की राज्य सरकार या केंद्र सरकार पाइपलाइन के लिए पैसे तो दे तो अब वो नहीं दिए फिर वो 12 साल से मुख्यमंत्री हो और यदि एक एक घर तक पानी की लाइन नहीं पहुंची तो उसमें मंदिर बनाने वालों का क्या दोष है चलो उसका दोष कम है क्योंकि कंपेयर टू अदर स्टेट उसका काम अच्छा है या कम बुरा है पर वो मंदिर बनाने वालों का दोष क्यों निकालना चाहिए एक एक घर में पानी की लाइन नहीं पहुंची मंदिर बनाने वालों ने कभी मना किया कि एक एक घर को पानी मत दो दूसरा पानी नहीं जा रहे हैं तो उसका एक कारण है कि हर एक घर में मीटर नहीं है हर एक घर में पानी का मीटर नहीं है उसका वजह से क्या होता है कि जो थोड़ा नीचे का एरिया होता है वहाँ पानी फुल फोर्स से आता है वो आदमी वो लोग अपना नल बंद करते नहीं है तो पानी खत्म हो गया तो जो थोड़े दूर के इलाके हैं वहाँ तक पानी पहुँचाना बहुत महंगा पड़ जाता है यदि हर एक घर में मीटर हो जैसे बिजली का मीटर है वैसे हर एक घर में पानी का मीटर हो तो आदमी उतना ही पानी लेगा जितनी उसको जरूरत है जितना तो वो मतलब थोड़ा बहुत अफोर्ड कर सकता है तो बाकी लोगों के लिए पानी अवेलेबल रहेगा अब गुजरात में पानी के मीटर का कानून पास नहीं हुआ बारह साल से नहीं हुआ तो उसमें मंदिर बनाने वालों की गलती या मुख्यमंत्री की गलती क्यों मुख्यमंत्री ने वाटर मीटर का कानून पास नहीं किया गुजरात के या किसी भी मुख्यमंत्री ने अधिकतर राज्यों में कंपलसरी नहीं है कुछ कुछ शहरों में है लेकिन अधिकतर राज्यों में वाटर मीटर का कानून कंपलसरी नहीं है मतलब कि हर एक सोसाइटी को हर एक फ्लैट का अपना पानी का मीटर होना चाहिए और वो जितना यूज कर रहा है उसके हिसाब से उसको बिल जाना चाहिए तो अपने आप हर एक घर में पानी पहुंचाने की सुविधा हो जाएगी अब वो कानून नहीं बना तो उसमें गलती मुख्यमंत्री की है दूसरे मंत्रियों की है मंदिर बनाने वालों की नहीं है दूसरा ड्रेनेज गटर लाइन नहीं है हर एक घर में तो जो मंदिर बनाने वाले हैं उन्होंने मना किया गटर लाइन डालने से गटर लाइन नहीं है क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं है सरकार के पास पैसा नहीं है क्योंकि वेल टैक्स नहीं है अमेरिका में जो लोकल म्यूनिसिपालिटी होती है वो फ्लैट के जो वैल्यू होती है मार्केट वैल्यू उसका एक परसेंट किराया लेती है सॉरी वेल टैक्स लेती है एक परसेंट यहां पे वेल टैक्स है वो प्रॉपर्टी का पॉइंट वन परसेंट भी नहीं है इसलिए वेल टैक्स नहीं लेते इसलिए गटर डालने के पैसे नहीं है और जो पैसे आते हैं वो म्यूनसिपल कमिश्नर वो मेयर वगैरह खा जाते हैं क्योंकि राइट टू रिकॉल मेयर नहीं है तो अब राइट टू रिकॉल मेयर का कानून तो मोदी साहब चाहते तो गैजेट में छाप सकते हैं वो उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ के बाहर है बाहर यानी वो दुनिया को भले दिखाते हो कि वो बहुत शेर है ये है पर यदि राइट टू रिकॉल कानून गैजेट में छापने की बात आए तो वो उनके बस की बात है मैं कभी उनको क्यों नहीं बोला कि राइट टू रिकॉल का कानून गैजेट में छापो क्योंकि उनके बस की बात नहीं है कि वो गैजेट में छापे राइट टू रिकॉल का आनंद कोई फूल का हार नहीं है कि उठा के गले में पहन लिया ऐसी घंटी है कि गले की हड्डी टूट जाएगी तो उनके बस की बात नहीं है राइट टू रिकॉल का कानून छापना इसलिए मैंने उनको कभी कहा भी नहीं मैं उसको मुद्दा भी नहीं बनाता क्योंकि उन्होंने भी कभी नहीं बोला कि राइट टू रिकॉल का कानून बनाएंगे वो पर आज वो इस तरह से बोल रहे हैं जैसे कि गांव में शौचालय नहीं है तो उसका कारण मंदिर बनाने वाले हैं उनका पूरा स्पीच आप देखो तो उन्होंने कहा कि हमारे हर एक गांव में अच्छे से अच्छे मंदिर है, लेकिन शौचालय नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं ये उनके वर्ड है, इसलिए मैं कहता हूं पहले शौचालय, बाद में देवालय। तो थोड़ा इसका इंटरप्रिटेशन निकालो तो वो मंदिर बनाने वालों को कह रहे हैं कि अभी मंदिर मत बनाओ। पहले एक एक घर में टॉयलेट लगाओ पर भाई एक एक घर में पानी की लाइन देना, एक एक घर में गटर की लाइन देना, वो तो सरकार का काम है। जो लोग मंदिर बना रहे हैं क्या उनके पास लीगल अथॉरिटी है कि हर एक सड़क खोद के वहां गटर डालना शुरू करे वो वो लीगल पावर सिर्फ गवर्नमेंट के पास है वो सिर्फ काम वो मेयर या म्यूनिसिपल कमिश्नर ही वो काम कर सकते हैं फिर जो एक दूसरा पर्सनल लिबर्टी का मुद्दा आता है कि मैंने या आपने एक आर्ग्यूमेंट आप में हर कोई एक्सेप्ट करेगा कि खाना है वो ज्यादा जरूरी है, गाड़ी है वो कम जरूरी है। आपके पास पैसा आएगा तो पहले आप खाना खाओगे, बाद में गाड़ी खरीदोगे। मैं भी वही करूंगा, कोई भी वही करेगा। तो मैं आपकी गाड़ी बेच के गरीबों को खाना दे दू आपके पास चार बेडरूम का घर है, आप चाहो तो दो बेडरूम के घर में भी रह सकते हो, तो आपका चार बेडरूम का मकान बेच के दो बेडरूम का मकान दे दू आप रहो उसमें और बाकी जो पैसा बचा वो मैं गरीबों के एजुकेशन में उनको टॉयलेट बनाने में, पानी पहुंचाने में, खाना पहुंचाने को देने में फूक देता हूं, वो खर्च कर देता हूं, तो आप पसंद करोगे? आप सीधा मुझे यही जवाब देने होगे, भाई आप होते कौन इस तरह की सलाह देने वाले कि मुझे क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए? और मैं यही बोलता हूं कि एक आदमी ने पैसा कमाया, उसने टैक्स भर दिया। अब उस टैक्स का ठीक से पैसा खर्च नहीं हो रहा, उसकी वजह से एक एक घर में पानी नहीं है शौचालय नहीं है गटर कनेक्शन नहीं है अब उसने टैक्स का पैसा दे दिया उसके बाद वो अपने पैसे का क्या करे वो बोलने का हक किसी को नहीं है कम से कम पॉलिटिकल लीडर को तो नहीं बोलना चाहिए कि भाई तू अपना पैसा इधर नहीं और उधर लगा यदि टैक्स नहीं भरा तो उस पर रेट डालो टैक्स वसूलो पर टैक्स भरने के बाद ये कहने का हक किसी को नहीं है कि उसके टैक्स का टैक्स देने के बाद वो पैसा कहाँ डाले और यदि यदि ये सलाह देते हैं दूसरों को कि मंदिर मत बनाओ और ये शौचालय वगैरह बनाओ तो सरदार पटेल का स्टैच्यू क्यों बना रहे वो भी सरकार के पैसे से वो तो अपने पैसे से नहीं बना रहे कुछ ढाई हजार करोड़ की कीमत है मुझे नहीं याद नहीं है मुझे तो सरदार पटेल का स्टैच्यू बनाने के लिए ढाई हजार करोड़ है वो भी वो कॉन्ट्रैक्ट किसी विदेशी कंपनी को दे रहे हैं जब स्टैच्यू बनाने की बात आई तब मेरा विरोध यही था कि ये विदेशी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं देना चाहिए तो विदेशी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए गुजरात सरकार के पास ढाई हजार करोड़ है और इस बात का उनको कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं होता और कोई आदमी मंदिर बनाना था तो विरोध करने पहुंच जाते कि नहीं पहले मंदिर नहीं पहले टॉयलेट बनने चाहिए तो क्यों ढाई हजार करोड़ का स्टैच्यू बनवा रहे हो और दूसरा उनके गोगल्स की कीमत क्या है पांच हजार है दस हजार है दो सौ रुपए का गोगल्स नहीं खरीद सकते देखो मैं और उनके कपड़ों का बिल क्या होता होगा महीने का बीस हजार आलिशान कपड़े पहनते हैं महीने का पचास हजार मैं मैंने आज तक कभी भी उनकी ऐसी पर्सनल बातों पे कोई कमेंट नहीं की और करनी भी नहीं चाहिए और मैं आज के बाद करने भी नहीं वाला पर ही स्टार्टेड इट मैंने शुरुआत नहीं की है मैंने ये बात नहीं शुरुआत की कि भाई आपका गूगल पांच हजार रुपए का क्यों है दो सौ रुपए का गूगल स्पेन हो और बाकी चार हजार आठ सौ रुपया वो किसी एनजीओ को दान दो जो कि ये गरीबों को सुविधा पहुंचाने का काम करता हो आपको महीने का कपड़ों का बिल कितना है बीस हजार तीस हजार दो हजार में तीन हजार में काम चला लो मेरे मेरे साल का कपड़ों का बिल कितना है दस हजार से कम है तो तुम भी साल के पंद्रह हजार से काम चला रहे हो और बाकी जो लाख रुपया बचा वो किसी एनजीओ को दान दो पर मैं ऐसी पर्सनल कमेंट किसी के बारे में नहीं करता पर ही स्टार्टेड इट उन्होंने शुरुआत की वो मंदिर बनाने वालों को कोस रहे हैं कि आपको मंदिर पहले नहीं बनाना चाहिए था पहले आपको ऐसे एनजीओ की या सरकारी एजेंसी की मदद करनी चाहिए थी जो कि ये सब टॉयलेट वगैरह का काम कर रहे हैं वो मंदिर बनाने वालों को कोस रहे हैं इसलिए मैं उनको कोस रहा हूं कि आपको इतने महंगे कपड़े नहीं पहनने चाहिए थे आपको सस्ते कपड़े पहनने चाहिए थे और वो पैसा एनजीओ को दान देना चाहिए आपको इतना महंगा गैगल्स नहीं गोगल्स नहीं पहनना चाहिए था सस्ता गोगल्स पहनो और पैसा एनजीओ को दान दो और गांधीनगर में उन्होंने महात्मा गांधी मंदिर बनाया आलिशान मकान बनाया उनका सचिवालय देखो कितना आलिशान बिल्डिंग है और वो सारी चीजें मैं क्यों आज तक उसी तरह से उन्होंने ये वाइब्रेंट गुजरात और वो सारी कॉन्फ्रेंस की थी करोड़ों रुपए फूक दिए और वो सारी चीजों पे मैंने कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन नहीं लिया क्योंकि वाइब्रेंट गुजरात का खर्चा यदि आप पूरे गुजरात के बजट से कंपेयर करो तो कोई पॉइंट पॉइंट परसेंटेज में आता है और ठीक है सरकार चलानी है, इलेक्शन लड़ने हैं, थोड़ा बहुत शो बिजनेस चलता रहता है, शो बिजनेस होता रहे और वो कोई बड़े मुद्दे थे इसलिए मैंने कभी ऑब्जेक्शन भी नहीं लिया पर यदि वो दूसरों का एक्सपेंडिचर प्रायोरिटी को चैलेंज करते हैं और वो भी ऐसे खराब शब्दों में शायद वो कुछ और भी बोल सकते थे कि भाई पहले स्कूल होना चाहिए फिर मंदिर होना चाहिए कुछ भी बोल सकते सीधा शौचालय जैसी बात कर दी उन्होंने कमेंट में अब इसके कुछ और पॉलिटिकल रीजन भी है मैंने बहुत सारी अपनी पुरानी वीडियो में कहा फेसबुक भी आर्टिकल में कहा है कि मोदी साहब है वो मल्टीनेशनल कंपनियों पे कुछ ज्यादा ही डिपेंड हो रहे हैं उनके पूरे इंडिया में उनको पब्लिसिटी चाहिए पब्लिसिटी उनको मल्टीनेशनल कंपनियों का मीडिया दिला सकता है और मल्टीनेशनल कंपनियां पूरे दुनिया में जहां भी जाती है नेताओं को पब्लिसिटी देती है तो एक शर्त रखती है कि आप अपने स्थानिक धर्मों की बुराई करोगे और मिशनरियों को प्रोत्साहन दोगे या मिशनरियों को रोकोगे नहीं मल्टीनेशनल कंपनियों के मालिक है वो मिशनरी के कजिन समझ लो या जो भी समझ लो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो 1850 में 1850 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऑर्डर दिया कलकत्ता की फैक्ट्री में जहां कारतूस बनते थे कि भैंस की चर्बी डालना बंद करो और गाय और सुअर की चर्बी लो मिक्स करो और मिक्स करके डालो वो मिशनरियों ने बोला था कि भाई इस तरह से कारतूस में चर्बी डालना शुरू करो ताकि हमको सैनिक कन्वर्ट करने में आसानी तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये मिशनरियों को फायदा हो इसलिए ये कानून पास कराया था तो मोदी साहब मल्टीनेशनल कंपनियों पे जितनी उनकी डिपेंडेंस बढ़ रही है मल्टीनेशनल कंपनियां उनसे ये एक्सपेक्ट करती है कि आप अपने धर्म की बुराइयां करो और मिशनरियों की तारीफ तो नहीं कर सकते पर उनको रोड़े मत अटकाओ अब ये जो शौचालय देवालय की बात की उन्होंने सचमुच मुझे तो ये कहना भी अच्छा नहीं लग रहा पर अब इस स्टेटमेंट पे मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे क्या करना वर्ड तो यूज लेने पड़ेंगे तो अब जब उनके पीएम बनने के बाद और 99% पीएम तो बनी जाएंगे मल्टीनेशनल कंपनियां मीडिया में इतना इनका प्रचार कर रही है तो पीएम बनने के बाद राम जन्मभूमि की बात आएगी तो यही डायलॉग सुना देंगे विश्व हिंदू परिषद को या हमारे जैसे को मैं भी राम जन्मभूमि में बिलीव करता हूं कि भाई पहले ये काम करना है पहले स्कूल बनाने हैं पहले फैक्ट्रियां बनानी है दस साल के बाद आना ये सारे काम करने में दस साल तो निकल जाएंगे तो ये राम जन्मभूमि के मुद्दे को टालना ये साफ उनका लक्षण दिख रहा है कि ये राम जन्मभूमि के बात को अभी से टाल रहे हैं तो इसको मैं अब समराइज करूंगा एक तो शौचालय इसलिए नहीं है क्योंकि सरकार ने पानी की लाइन नहीं डाली गटर की लाइन नहीं डाली और वो लोग गरीब है गरीब इसलिए है क्योंकि सरकार ने एमआरसीएम का कानून पास नहीं किया उसमें वो उनकी गुजरात की सरकार भी आ गई उनकी वाजपेयी की छह साल की सरकार भी आ गई कांग्रेस की सरकार भी आ गई पानी का मीटर नहीं है इसलिए घर घर में पानी नहीं जाता घर घर में पानी पहुंचाना महंगा हो गया जो सरकारें हैं उनके लिए पानी पहुंचाने का काम क्यों इतना महंगा हो गया है क्योंकि मीटर का कानून नहीं है तो मीटर का कानून लाना तो आपका गुजरात गवर्नमेंट का काम था कम से कम गुजरात के अंदर मीटर लगवाने का बारह साल हो गए आपको मुख्यमंत्री बने और यदि मीटर का कानून पास नहीं हुआ तो मंदिर बनाने वालों की क्यों गलती और दूसरा मंदिर बनाने से इस बात का कोई कनेक्शन नहीं है एक भक्त आदमी है उसने टैक्स का पैसा भरा अब वो मंदिर बनाए या वो किसी एनजीओ को दान दे या वो स्विट्जरलैंड घूमने जाए या सिंगापुर घूमने जाए या अपने घर के अंदर आलीशान टाइल्स डाले अब वो उसका बिजनेस हो गया उसमें दूसरों को बोलना नहीं चाहिए कम से कम पॉलिटिकल लीडर को नहीं बोलना चाहिए खास करके वो गैर कानूनी कानून तो नहीं, काम नहीं कर रहा और दूसरा यदि वो इतना ही है तो अभी स्टेटमेंट एक और दे दे कल के अखबार में कि भाई पहले सोचा शौचालय बाद में मस्जिद बाद में चर्च मैं ऐसे स्टेटमेंट को सपोर्ट नहीं करता क्योंकि जो चर्च बना रहे अपने पैसे बच्चे बना रहे उनका पैसा उनको मुबारक पर यदि स्टेटमेंट उनको देने ही है तो अपने स्टेटमेंट में देवालय शब्द के साथ मस्जिद और चर्च भी जोड़ दे यदि उनको दिखाना हो तो यदि सचमुच इस तरह के स्टेटमेंट देने का शौक है तो यदि वो सचमुच अपने आप को सेक्युलर समझते हैं मतलब रिफॉर्म्ड इसको सेक्युलर नहीं बोलते रिफॉर्म्ड कुछ लोगों को धर्म धर्म को गालियां देने की आदत पड़ जाती है और वो सोचते हैं कि धर्म को गाली देने से वो पढ़े लिखे साबित हो जाएंगे वो बुद्धिमान साबित हो जाएंगे मैं अपनी बात करूं तो मैं नास्तिक हूं मतलब हफ्ते में तीन दिन भगवान में मानता हूं तीन दिन मैं भगवान में नहीं मानता लेकिन आज तक मैंने किसी धर्म की या किसी धार्मिक प्रणाली की या किसी पूजा की पद्धति की या किसी भी रिचुअल की कभी मैंने बुराई नहीं की मैं पार्टिसिपेट नहीं करता मैं पिछले 25 साल से देरा सर में नहीं गया जैन मंदिर में मैं नहीं गया पर मैं दूसरों को मैंने आज तक कभी नहीं बोला कि तुम जा रहे हो गलत है तुम यहां दान दे रहे हो गलत है तुमको ये करना चाहिए क्यों क्योंकि उसने टैक्स का पैसा भर दिया उसने एक बहुत बड़ी अपनी धार्मिक जिम्मेदारी निभा दी उसने एक बहुत बड़ी राष्ट्र की जिम्मेदारी निभा दी अब वो टैक्स का पैसा गलत खर्च हो रहा है तो वो रोकने की जिम्मेदारी मेरी है वहां मुझे काम करना है न कि जो आदमी टैक्स भरने के बाद कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहा मैं उसको जाके कोसू कि तू मंदिर में मत दान दे ये कर तू ये मत कर ये मत कर वो भी तो मुझे आके कह सकता है ना कि पिक्चर मत देख और ये कर वो भी तो मुझे कह सकता है कि अखबार में एडवर्टाइज मत दे किसी एनजीओ को डोनेशन दे जो कि शिक्षा का काम कर रहे हो तो इस तरह के जो धर्म को कोसने से आप बहुत बुद्धिमान साबित हो जाओगे ऐसे कुछ एजुकेटेड लोगों को आदत पड़ गई होती है और मेरे ख्याल से ये डिसीज सब इनको भी पहुंच रहा है और वो डिसीज पहुंचने का कानून क्या है कि जो आदमी मल्टीनेशनल कंपनी पे डिपेंड हो जाए मल्टीनेशनल कंपनी ऐसे नेता को पसंद करती है जो कि धर्म को कोसे इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली धर्म को कोसे यानी उसका मजाक उड़ाए उसका अवहेलना करे उसका बहुत ही ऐसे शब्दों में अपमान करे कि आप बोल भी ना सको कि अपमान हुआ ऐसे आदमी को मल्टीनेशनल कंपनियां पसंद करती है क्यों क्योंकि इस तरह के स्टेटमेंट है वो मिशनरियों को फायदा पहुंचाते हैं तो अब इसका उपाय क्या है उपाय तो क्या जो नरेंद्र मोदी के स्पॉन्सर है मल्टीनेशनल कंपनियां उन्होंने बीजेपी के सारे नेताओं को खत्म कर दिया मतलब पॉलिटिकली खत्म कर दिया अडवाणी की कोई वैल्यू बची नहीं है राजनाथ सिंह की कोई वैल्यू नहीं है मोदी के सिवा कुछ नहीं है मल्टीनेशनल कंपनियां क्या चाहती है कि हर एक पार्टी में एक या दो ही नेता हो बाकी सारे नेता छुटपुटिया खत्म हो जाए ताकि उनको कंट्रोल करना हो मैनेज करना हो तो सिर्फ एक ही आदमी को मैनेज करना हो ना बाद में यदि बीसियों नेता है पब्लिक के अंदर तो यदि तो उन्हें बीस लोगों को मैनेज करना पड़ेगा इसलिए मीडिया ने मल्टीनेशनल कंपनियों के मीडिया ने मोदी के सिवा बाकी सबकी इज्जत अब मिट्टी में मिला दी अब जो बीजेपी के नेता है वो भी स्टेटमेंट को क्रिटिसाइज करने से डरते हैं क्योंकि स्टेटमेंट को ज्यादा क्रिटिसाइज किया तो मोदी के वोट कटेंगे तो उनको नुकसान होगा मोहन भागवत की भी ये स्टेटमेंट को क्रिटिसाइज करने की हिम्मत नहीं हुई और तोगड़ियाम ने भी क्रिटिसाइज किया और बहुत ढीले शब्दों में किया है ये स्टेटमेंट यदि सोनिया गांधी ने दिया होता या दिग्विजय सिंह ने दिया होता तो बीजेपी ने विश्व हिंदू परिषद ने अहमदाबाद बंद गुजरात बंद कर दिया होता कम से कम बड़े पैमाने पे धरने और रैलियां वो सब तो किए ही होते और आज वही विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता बेचारों के पास चुप बैठने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है इसलिए चुप बैठे हुए हैं और जो मोदी के भक्त है वो भी घबरा रहे हैं कि अब मोदी को क्रिटिसाइज किया तो थोड़ा होगा इस तरह से कि भाई एक आदमी की आप तारीफ कर रहे हो तारीफ कर रहे हो तारीफ कर रहे हो अब उसने कुछ ऐसी बात कर दी अब आप उसकी बुराई करोगे तो आप खुद बुरे दिखोगे कि भाई कल तक तो तू इसकी तारीफ कर रहा था तो ये स्टेटमेंट यदि सोनिया ने किया होता दिग्विजय सिंह ने किया होता तो मोदी का एक एक भक्त चिख चिख के गालियां दे रहा होता उनको और मोदी ने ये स्टेटमेंट किया तो बेचारों के पास उसको जस्टिफाई करने के और रेशनलाइज करने के सिवा और कोई मौका नहीं है तो इसको रेशनलाइज करने के लिए बात क्या गलत की भाई यही बात दिग्विजय सिंह करता तो क्या गलत हो जाती और ये बात जब जयराम रमेश ने की थी तब एक एक नरेंद्र मोदी के भक्त ने जयराम रमेश को गालियां दी थी नरेंद्र मोदी का एक भी भक्त नहीं था कि जिसमें जयराम रमेश ने ये बात कुछ साल दो साल पहले की थी तब उसने जयराम रमेश को गालियां ना दी अब यही बात जब नरेंद्र मोदी ने की तो नरेंद्र मोदी के भक्त है वो इसको जस्टिफाई रेशनलाइज करने की जगह कोई मौका नहीं है तो मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा कि राइट टू रिकॉल पीएम कि यदि राइट टू रिकॉल पीएम है तो पीएम इस तरह की बात करने से क्यों घबराएगा कि वो देखेगा कि भाई अब मैं पीएम बन गया तो मेरे पास पांच साल का लाइसेंस नहीं है लोग मुझे दो दिन में नौकरी से निकाल सकते हैं और शायद ऐसी बात से नौकरी से ना निकाले बर्दाश्त कर ले लेकिन एक बार ऐसी बात की दो बार बात की तो दस बार ऐसी बात बर्दाश्त नहीं करेंगे तो अपने आप वो पहली बार भी इस तरह की बात नहीं करेगा तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि मोदी को वोट देना हो तो दो पर अब उसी की भाषा में कहूं तो पहले राइट टू रिकॉल पीएम फिर नरेंद्र मोदी को पीएम बनाओ पहले राइट टू रिकॉल पीएम का कानून लाओ बाद में नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने की बात करो धन्यवाद